और जिस दिन कयामत बर्पा हो जाएगी गुनाहगार लोग कस्में खाएंगे कि दुनिया में एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे इसी तरह ये बहके हुए ही रहे